बंद कर माता आज हम पाठ करेंगे अपने the common rights को हम धीरे धीरे बोलेंगे थोड़ा थोड़ा कहेंगे ओम अग्निवे व्रतपते व्रतम करिष्यामि तत्सकेयम तन्मे राज्यताम इदम अमृतात् सत्यम उपयोगी तो संकल्प आपने लिए और हम संकल्प दिलाते थे और बिना संकल्पों के इन व्रतों के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता व्रतों के संबंध में संकल्पों के संबंध में व्यक्तियों के विचार सामने आते हैं और प्राय व्यक्ति आदर्श रूप में संकल्पों को नहीं लेता और यदि कहीं देता है तो वह अवसरवादी के रूप में देता है लोग कहते हैं हम सच्चे बोलेंगे और साथ साथ जोड़ते हैं कि जहां तक हो सकेगा सत्य हो इसका क्या है जहां तक हो सकेगा सकते ऐसे व्रत लेंगे तो ऐसे व्रत लेने वाले व्यक्ति कभी महान नहीं बनते उनका प्रभाव अपने जीवन पर अच्छा नहीं रहता उनका प्रभाव समाज पर अच्छा नहीं पड़ता इतने उपदेश होते हैं इतने लेख निकलते हैं समाचार पत्रों में छपते हैं बड़े बड़े आयोजन होते हैं इन आयोजनों को देखता है व्यक्ति लेखों को पढ़ता है व्यक्ति समाचार पत्रों में भी देखता है वो और वो एकदम प्रभावित होता है ये लेख केवल लेख मात्र के महत्व व्यक्ति के जीवन में नहीं है ये बात ये प्रभाव सर्वत्र देखा जाता है इसलिए इतना प्रचार होते हुए भी इतने लेख निकलते हैं इतने पुस्तक ग्रंथ प्रकाशित होते हैं इतने आयोजन होते हैं परिवर्तन कुछ नहीं होता एक मान्यता सामने आती है कि देखो मंच का जीवन दूसरा होता है और व्यवहार का जीवन अकेले अन्य मंच का जीवन अन्य और व्यवहार का जीवन अन्य मन सी अन्य और वससी अन्य इसके दुरात्मा तो संकल्पों के विषय में याद रखो यदि आप विकल्पों को लेकर चलते हैं तो व्रतों का पालन करते करते ऊंची स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते विकल्प अवसरवाद व्यक्ति को ऐसा बनाता है वो पहले देखता है इतनी सीमा तक झूठ नहीं बोलूंगा इससे आगे बढ़ूंगा तो बोलूंगा फिर देखता है उस सीमा को छोड़ा उसने यानी थोड़ा सा और सड़कना पड़ेगा थोड़ा सा और यहां तक बोलूंगा फिर और कठिनाई आई फिर सोचा नहीं इतना तो नहीं थोड़ा सा और कम करूंगा फिर आया फिर थोड़ा सा और कम करूंगा और <laughs> वो अंत में कहा आता है अंत में यहां आता है कि जहां अवसर मिले वहां झूठ अच्छा सच बोलना आप में से इतने व्यक्ति कितने हैं जो सदा सत्य बोलते हो सदा सत्य लिखते एक दो तीन चार एक आठ खड़ा हो और वो भी हमारी परीक्षा कोटी में आप परीक्षा कोटी ऐसे सत्य Ha <laughs> ha ha ha ha ha! तो ये ठीक बनाया बल्कि पहले शब्द को जोड़ देते तो ठीक रहता ये पहला जीवन तो मेरा नहीं था मेरा आठ दिन से है पहले ही पाता था तो आपने सुना है ऐसी भाषा न बोलो जो भ्रांति पैदा करती है भ्रांति वाली थी भ्रांति वाली थी हाँ भ्रांति वाली भाषा बाद में बोला ना जब पूछा स्वामी जी पहले तो भ्रांति पैदा कर दी पहले भ्रांति पैदा कर दी उसको सत्य नहीं कहते जो बात भ्रांति पैदा करे वो झूठ में आ जाती है तो देखो चर्चा है याद रखो अब आपने यदि ये व्रत धारण नहीं किया तो आज तो कर लो कम से कम अच्छा प्रक्रिया ऐसी बनाओ पहले घर से प्रारंभ कर दो घर से भी पहले घर से भी पहले एक व्यक्ति के साथ सत्य बोलना आरंभ करो जो अधिक विश्वास पात्र हो घर में उसके साथ अपना यह संबंध जोड़ो अधिक प्रिय है विश्वास पात्र है उसके साथ हम जुड़ते हैं और कहते हैं मैं आपके साथ सदा सत्य बोलूंगा और कालांतर में छह मास एक वर्ष के पश्चात पूरा होने पर उससे दूसरे नंबर वाला व्यक्ति कोई उसके अपेक्षा कमजोर है वो उसके साथ जुड़ता है फिर तीसरा फिर चार पांच छह सदस्य कहते हैं वो सारों के साथ सत्य बोलना आरंभ कर देता है फिर वो पड़ोस के लोगों के साथ सत्य बोलने का अभ्यास करता है फिर वो एक मोहल्ला एक उसके अंदर सत्य बोलने का अभ्यास करता है फिर वो नगर या गांव और इस प्रकार से व्यक्ति आगे बढ़ता है तो सत्य बोलते बोलते व्यक्ति को पता चलता जाता है कि सत्य बोलने से क्या लाभ होता है और झूठ बोलने से क्या हानि होती है बोलते बोलते बोलते ऐसे अवसर आते हैं जहां व्यक्ति विवश हो जाता है और क्या करूं क्या नहीं करूं इस समस्या में फंस जाता इसको भी पार करना पड़ता है बहुत बड़ी बड़ी संकट की घड़ियां आती हैं वहां व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है या सत्य बोलूं या असत्य अच्छा ये बताओ किसी के प्राण बचते हो तो सत्य झूठ बोलना चाहिए या सत्य एक दृष्टांत सुना आपने कभी गऊ वाला सुना था सुनाया होगा सुनाया था वहां पर मैंने नहीं सुनाया आपने नहीं सुनाया पिछली बार शायद सुनाया होगा और हाँ, उस समय सुना होगा एक दृष्टांत देते हैं लोग वो ये देते हैं कि सत्यवादी बैठा है चौराहे पर एक गौ भागती हुई गई उसके पीछे कसाई आ रहे हैं छोरे और तलवार भाला और पिस्तौल लेते हुए चल रहे और एक सत्यवादी चौराहे पर बैठा है और वो गौ गई है ये प्रसंग वहां पर उठाया जाता है कि उस सत्यवादी व्यक्ति को क्या कहना चाहिए सुनो एक एक पक्ष को याद रखना है जी वो ये कह सकता है कि गऊ को मैंने नहीं देखा एक पक्ष आप अपने पक्ष को याद रखना बोलना नहीं क्या कह सकता है दूसरी बात दूसरा कहता है नहीं ऐसा ऐसा कहना चाहिए जिस मार्ग से गऊ गई है उस मार्ग को न बता के दूसरे सड़क पर बताए कि इससे गई है जहां गऊ गई है उसको न बताए जहां नहीं गई उस मार्ग को बताए कि इस मार्ग पर गई है एक दूसरा पक्ष है तो तीसरा कहता नहीं दोनों नहीं ऐसा इसमें मौन रहे तो क्या कहना नहीं ऐसी बात नहीं है सत्य बोले जो का तो जहां देखिए वहीं बताना चाहिए पांचवा कहता नहीं ये ठीक नहीं है मैं जानता हूं नहीं बताऊंगा अच्छा अब एक एक पक्ष आपका मैं जानना चाहूंगा थोड़ा थोड़ा अलग अलग बोलूंगा एक पक्ष है कि उसको ये कह देना चाहिए मैंने गौ को नहीं देखा इसके पक्ष में कौन है एक एक और और कोई एक तो मैंने नहीं देखा यही है ना ठीक है और दूसरा क्या था कि गई ईश्वर बताया इस दूसरी सड़क पर ये ये कौन मानता है एक दो तीन चार दो और तीसरा कौन सा था मौन लेने का कौन मानता आप खड़ा करो मौन अच्छा चौथा गई इधर बताइए इधर ना हो गया एक और रह गया नहीं नहीं वो ना ना ना वो पांचवा ये है हाँ, इधर गई उधर ही बताना इधर बताना जिधर गई उधर बताना ये और बताओ जी जिधर गई उधर बताना वो है और पांचवा ये है कि मैं जानता हूं नहीं बताऊंगा और इतने पक्ष मतलब तो लगभग बन जाते हैं और इनमें से जो हमारे बुद्धि के अनुसार ठीक बनता है पहला मौन का है, है? और दूसरा है नहीं बताओ ये दो रह जाते हैं जहां तक मौन से काम चलता है स्थिति है वहां एक पक्ष चलता है और एक पांचवा पक्ष जो है ये होता है कि मैं जानता हूं नहीं बताऊंगा वो तो जो भी अंतिम बात है ये तो। अंतिम संकट की घड़ी है वो क्या करे तो अब कई लोग कहते हैं बात ऐसी है कि वो ये कह देवे मैंने नहीं देखी तो इसमें क्या हानि है हाँ जी तो बताने के लिए जाना तो, तो बताने के लिए वो ठीक है ना तो तो ये ठीक बात है अच्छा सुनो अब बात एक और आती है अच्छा उसके कहने से कसाई मान लेगा इसमें क्या प्रमाण है उसके कहने मात्र से वो कसाई मान लेंगे इसमें क्या प्रमाण है तो इसमें जो तर्क उठते हैं याद रखना सुनो वो ये उठते हैं कि ऐसा मान के चलता है व्यक्ति कि उसके कहने मात्र से कसाई मान लेगा कहीं बात यह होती है उसकी बात को वो समझ जाते हैं कि झूठ बोल रहा है जानबूझ के वो गऊ को भी मारते हैं उसको भी मारते हैं दोनों को मारना आगे बढ़ जाओ सत्यवादी व्यक्ति ये कहते हैं श्री युधिष्ठिर जी जो धर्मराज कहे जाते हैं जी उन्होंने भी झूठ बोल दिया था वो प्रेरणा व्यक्ति पाते थे ईश्वर राजा हरिश्चंद्र जी से ये पाठ पढ़ते हैं सब कुछ हो गया पर अपना सत्य हरिश्चंद्र जी ने नहीं छोड़ा ये पाठ वाक्य और ये दूसरे जी की जो घटना सुनाते हैं कैसी भी हो उससे व्यक्ति झूठ बोलना सीखते हैं आज का व्यक्ति कहां विवेचन करता है ये झूठ बोलते बोलते व्यक्ति कहां तक चले गए एक दूसरे व्यक्ति का विश्वास नहीं रहा दूसरे पर विश्वास खो बैठा गया जितने तर्क इसमें उपस्थित किए जाते हैं वो सारे बेकार हैं तो ध्यान दो इसमें तुलनात्मक जो हम विचार करते हैं जब दोनों पक्षों को उठाते हैं उस समय हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि झूठ बोलना अत्यंत हानिकारक है लौकिक और आध्यात्मिक ध्यान दो हम जो भी कुछ करते हैं सुख के लिए करते हैं जिस काम के करने से सुख होता है वो धर्म है जिस काम के करने से दुख होता है वो अधर्म है सत्य आचरण से बोलने से व्यक्ति को सुख मिलता है लौकिक सुख भी मिलता है और ईश्वर का आनंद भी मिलता है झूठ बोलने वाले व्यक्ति को न लौकिक सुख मिलता और न ईश्वर का आनंद प्राप्त होता ये परिणाम ऐसा लेख महर्षि दान ने कहा की भाष्य भूमि का स्वामी दयानंद के लेख से प्रभावित मैं इसलिए होता हूं कि अज्ञानता से कोई बात हो जाए अलग बात है बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक असत्य का पक्ष लेना और सत्य का खंडन करना या छोड़ना ये महर्जिदान के सिद्धांत में नहीं है तो ये जो सत्या प्रकाश है यदि भी मैंने पढ़ना आरंभ किया था उस समय जिसकी पंक्ति में समझता था उसी समय से ये बात हाथ में लगी कि कितने सत्यवादी हैं और इनकी बातें सत्य हैं इसलिए इनकी बातें मान ली जाए यदि मुझे संदेह होता या मैं ये मान लेता कि ये झूठ बोलते तो मैं कभी सत्यार प्रकाश को इस रूप में नहीं करता आज तो व्यक्ति घरों में झूठ बाहर झूठ समाजों में झूठ राजनीति में कोई ठिकाना नहीं सन्यासी झूठ गुरु शिष्य झूठ पति पत्नी झूठ भाई भाई झूठ पिता पुत्र झूठ मां बेटी झूठ और क्या कहूं सर्वोर्ण मूर्त मंडलम कुएं भांग पड़ रही पूरा का पूरा पूरा भांग के बयान उसको पीते जाते रहे उनकी आदत वही होती है जैसे हमारे उपदेशक सुनाया करते हैं भांग की करके चल पड़े पंडे और जो नाव चीज की रस्सी खोजी नहीं रात भर भांग को चप्पू बचता रहा और बताया गया जब प्रातः काल अगर सूर्य उदय आते भाई यहां पहुंच गए यहां दीपते थे मकान से पहुंचे उनका पहुंचे कहीं तो मथुरा ही है तो वही है वाराणसी है ये तो वो वहीं बंद रहता वो साल वो रस्से बंधे रहे वो चप्पू मारते रहे भांति के ये सारे के सारे भांति चप्पू मार रहे डरोगे नहीं डूबोगे रस्सी खुल नहीं रही ये कोई ढंग है पद्धति है यदि झूठ बोलना घर में तो सारे झूठ बोलो आज से शुरू कर दो भाइयों झूठ बोलने से लाभ होता है और सत्य बोलने चाहिए घोषणा करो बोलो और उपनिषकार का वाक्य बदल दो सत्य में वजह से नानरीतम उसका उल्टा कर दो असत्य में वजह से ना सत्यम न सत्यम उल्टा करो और जो व्यक्ति ये कहता है झूठ से लाभ होता है वो घोषणा करे मैं सदा झूठ बोलूंगा और झूठ बोले लाभ होता करो कोई होगा क्या है वो बड़ा मुश्किल है कहना कोई सा पक्ष रख लो सामने और कोई वेदों के आधार पर और फिर अनुकूल ग्रंथों के आधार पर यह सिद्ध नहीं कर सकता कि झूठ बोलने से व्यक्ति को लौकिक सुख मिलता है और मुक्ति मिलती है कोई सिद्ध नहीं कर सकता तो उसमें याद रखने की बात है कि वेदों के आधार पर और दर्शनों के आधार पर और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि सत्य से ही व्यक्ति को लौकिक सुख मिलता है और ईश्वर की प्राप्ति होती है ये जितने तर्क उठाए जाते हैं ये पक्ष उठाए जाते सारे खंडित हो जाते हैं रोग दोष कहां पर है व्यक्ति अपनी झूठ को दबाने के लिए इस पक्ष को लेता है प्राय देखा जाता है अपनी झूठ को दबाने के लिए झूठ बोलने का पक्ष लेता है और नाम लेता है परोपकार का नाम परोपकार का लेता है कि दूसरों के भले के लिए झूठ बोलो दूसरों के बचाव के लिए झूठ बोलो वस्तु तत्व तो यह नहीं है सच्चाई है कि वह अपनी बुराई को दबाने के लिए झूठ बोलता है आप जहां इस मनुष्य जीवन में आपके सामने ये समस्या है और ये संकल्प है आप जिस बात के लिए दौड़ लगा रहे हैं उसके लिए आप झूठ बोलते हुए चलेंगे वो पूरी हो जाएगी ये संभव नहीं है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार प्रकाश में एक बात लिखी यहां तक लिखी कि देखो एक व्यक्ति किसी को कहता है कि अमुक समय में मैं आपको मिलूंगा और अमुक वस्तु दूंगा लगभग ऐसे शब्द हैं यदि वो व्यक्ति नहीं आता या वस्तु नहीं देता उसका विश्वास समाप्त हो जाता और एक बार झूठ छल कपट चोरी जारी मिथ्या भाषण करने वाले का विश्वास आजीवन भर समाप्त होता झूठ बोलने वाला व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है वो ये मानता है कि मैं अपनी झूठ को दबाए रखूंगा कोई जानेगा नहीं ये मिथ्या धारणा आप ध्यान लो व्यक्ति झूठ इसलिए बोलता है ना कि मेरी झूठ पकड़ी नहीं जाएगी जो ठीक से समझते हो ना प्राय ऐसे मानता है कि मेरी झूठ में पकड़ी जाएगी और बारह मास होते हैं बारह महीने होते हैं वो व्यक्ति एक मास में एक झूठ बोलता है बारह झूठ बोलेगा अथवा छह बोलता है तो क्या उसकी एक भी झूठ में पकड़ी जाएगी पकड़ी जाएगी और ध्यान देना वो झूठ जब पकड़ी जाएगी परिणाम यह होगा उसकी सत्यता भी झूठ में बदल जाएगी बड़ी घटना होने पर धन की हानि होने पर आत्म संबंधी घटनाओं में कोई बात उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा विश्वास खो देता लेकिन पत्नी का विश्वास नहीं रहता भाई भाई का विश्वास नहीं है गुरु शिष्य का विश्वास नहीं है किसी का किसी पर विश्वास नहीं है उत्तरोत्तर काल में हमने देखा कि पहले की स्थिति फिर पीछे की फिर पीछे की आज तो बिल्कुल ही विनाश हो गया इतना झूठ बोलता है पति पत्नी में झगड़ा देखा मैंने मैंने पूछा कि आप प्रेम से नहीं रहते नहीं झगड़ा चल रहा है हमारा बराबर कितने दिन हो गए उन्होंने कहा कि ग्यारह वर्ष हो गए लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं मैंने कहा कारण बताओ उनका ये मेरी पत्नी है प्रोफेसर है उपदेश के लिए भी जाती रहती है और कहता है इसके आचरण पे मेरा विश्वास है वो झट कहती है स्वामी जी बिल्कुल ठीक है मेरे आचरण में कोई कमी नहीं है खूब जोर से बोलती है और कहता मैं इसका विश्वास नहीं करता क्योंकि झूठ बोलती अब बताओ कैसे कैसे विश्वास दिलाओगे आप घरों में जो झगड़े होते हैं भयंकर संकट आते हुए झूठ बोलने जाते झूठ बोलते बोलते व्यक्तियों का झगड़ा आगे बढ़ जाता है और कोई किसी का विश्वास नहीं करता जैसे चोरों का चोर एक बार सीना गति हो जाती है वो अपना ले जाता है वो धन संपत्ति ले जाता है उसोर को उसोर ले जाता है सबकी लड़ाई होती है और उनमें झगड़ा करके अलग अलग होती है ये स्थिति है लोगों व्यवहार की सिद्धि सत्य से होती है मैं ने एक बात उठाई प्रसंग उठाया है जो जी मुकदमे में अभियोग में झूठ बोलना आवश्यक है वहां झूठ नहीं बोलेंगे तो हम हार जाएंगे और मारे जाएंगे स्वामी राम जी कहते हैं जो व्यक्ति ये कहते हैं झूठ बोलने से लाभ होता है वो मामूर है छोटे मूर्ख नहीं महामूर्ख आप कौन से मूर्ख बोलो बोलो मत बोलो आपकी गणना तो हो ही जाएगी तो ये जो व्यक्ति है अपने आप आ जाता है इस कमरे में तीन व्यक्ति एक से पूछा तेरी ये देखनी नहीं दूसरे की नहीं तो क्या निकला तीसरे की है तो ये कैसे हो जाता है जब आपने ये पक्ष नहीं लिया कि हम सदा सत्य बोलते हैं सदा सत्य लेते हैं तो इसका मतलब झूठ बोलते हो व्यवहार की बात एक व्यक्ति कहता है ये सन्यासियों के लिए है सत्य बोलना सन्यासी सत्य बोले और करे तेरी चूटी इनकी हालत क्या है भाई पति पत्नी झूठ न बोला करो देखो जी बात और ठीक है फिर हम ग्रह तो झगड़ा मत किया करो नहीं नहीं दो दो पात्र गांव से हम भिड़ ही जाते हैं हम ग्रह हैं चिंता कर लिया करो समय लगा करो नहीं इतना तो नहीं हो सकता क्योंकि हम ग्रह एक क्या बीस बात क्या देगा हम से हैं हम गृहस्थ से एक लिए छुट्टी छुट्टी दे रखी ऋषि ने क्या लिखा याद रख लो भाव सुन लो गृहस्थाश्रम के संस्कार विधि में वो सारे शब्द मुझे याद नहीं है पर भाव जी पत्र याद झूठ से चाहे चक्रवर्ती राज्य मिलता हो चाहे प्राण भी चले जाए जीविका भी खत्म क्यों न हो जाए पढ़ के देखो इतना लंबा और वो गृहस्थी के लिए हमारे लिए नहीं जो है या नहीं है नहीं हो तो पढ़ ले उठा कर जीविका समाप्त हो जाए चाहे चक्रवर्ती राजा ही क्यों नहीं मिलता हो झूठ बोलने या नहीं बोलना चाहिए ये लिखा गृहस्थी के लिए लिखा और ये जो उपदेशक लोग हैं ये चटपटी बातें सुनाएंगे और भाइयो गृहस्थी लोगों तुम झूठ बोल दिया करो ये है सन्यासियों का काम क्योंकि बहुत अच्छा उपदेश इतना अच्छा उपदेश आज तक मिला ये डॉक्टर है आजकल बड़ा है सब डॉक्टर की बात नहीं करता कि आप मुझे कोई बुरा माने ऐसी दवाई देंगे अच्छाई ना होगी और ये कहेंगे कि भाई खान पान खान पान का कोई नहीं हुई कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर अब जो ये कह ग्रहस्थी लोग कोई बात नहीं तुम झूठ बोला करो लड़ भी लिया करो आपस में चोरी भी कर लिया करो तुम ग्रहस्थी योग कर लिया वो अच्छा उपदेश है एक लेखक ने ये तो लिखा तथा कथित सन्यासी तथा कथित ब्रह्मचारी तथा कथित पान प्र ये भी क्या कथित करे जिसने कितना चालाक व्यक्ति है उसकी पुस्तक भरी पड़ी इन बातों से संन्यास आश्रम का खंडन ब्रह्मचर्य का खंडन गुरुकुल का खंडन ऋषियों का खंडन है और यह अंत मारिए लिखा हुआ ये और ये कहता है मैं तो भाई झूठ बोलता हूं हमारे सामने और मैं झूठ से अपने घोर से काम निकालता हूं वो उपदेशक बने बैठा यह कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी को बोलते हैं वो झूठ उतरी है अग्निहोत्री है देख लो मैं इसलिए नाम लेके बोल रहा हूं अच्छी तरह मैं जानता हूं इस झूठ पक्ष वाले व्यक्ति ने कौन से अनर्थ नहीं किए क्या नहीं करता झूठ के ऊपर झूठ झूठ के ऊपर कोई सीमा ही नहीं और बात देखो कितनी की सारा जीवन आर्य समाज आर्य पर विकास का सारा जीवन मेरा सारा जीवन प्रभुदारी का और नाम का देखो कितना नहीं समझे आप और वो मेरे पास ऐसे बड़ी पुस्तक वो उनका फूल कौन सा है वो फूल पुष्प वो फूल है वो पचहत्तर या सत्तर फूल है उनकी <laughs> मेरा मतलब है कि उपदेशक व्यक्ति कितना झूठ बोलते और वो पुस्तकों में भी लिख मारा बोला नहीं बोल देते तो कम से कम लेखबद्ध तो नहीं करना चाहिए ये लिखा है मुक्ति के लिए घरबार कुटुंब छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ये लिखा है मुक्ति के युक्ति मुक्ति की युक्ति ये लिखा है ये बात को इसलिए सुना रहा हूं अवसरवाद घातक बढ़ता गया कितना आगे बढ़ गया लेख के माध्यम से उपदेश के माध्यम से घरों में आगे कैसे घुसा है बंधुओं ये मंत्र बोल के चलो अपने व्रतपति व्रतम श्यामी तक्ष के यम तन मेरा घेताम ईदमा मंदिरिता सत्य मुंह पे मी और क्या मिलेगा ये लिखा जो मिलेगा व्रतेन दीक्षा मापन होती दीक्षापन होती दक्षिणा और दक्षिणा श्रद्धा मापन होती श्रद्धा सत्यम आपके लिए अंत में भगवान की प्राप्ति होती है सत्य का व्रत लेकर चलने वाले का यह विवरण है व्रते ने दीक्षा मापन होती और ये व्रत का विधान करता है अपने व्रत पते व्रतम चली ज्ञान सत्य के हिमतन में राज्य का आप और हम भी इसके लिए अड़के खड़े नहीं होंगे और ये सजी नहीं उड़ा देंगे झूठ की तब तक ये झूठ है ये बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते हमको मार जाए अब क्या इसने कमी थोड़ी छोड़ी इस झूठ ने मानव समाज को बिल्कुल बर्बाद कर दिया और राजनीति की तो कथा ही क्या है भाई आप सब जानते हैं जितने पाप दुनिया में होते हैं वो सारे करता है राजनीति वाला और कोई बात करता है तो कहते ये राजनीति इसी पाप को करते हुए पूछो क्यों क्योंकि ये राजनीति नहीं सुना क्या आपने सुनते हो ना भाई को भाई मार देगा गद्दी के लिए क्यों मारा क्योंकि ये नहीं और राजा जब प्रजा प्रभावित होती है यथा राजा तथा प्रजा ऊपर से यहां तक दबाव देखा जाता है जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलना चाहता उसे झूठ बुलवाया जाता है किसी भी बात चलिए लगभग दबाव पड़ता है वो चालाकी वो ढंग वो पद्धति वो कहते नहीं ऐसा आपको लिखना पड़ेगा अन्यथा नौकरी छोड़नी पड़ेगी खाद्य की जो हमें दुकानों में मिलावट कितनी पूरी तरह चलती है और बात वही हेतु तो वही है कि बिना इस मिलावट के हमारा व्यापार नहीं चलेगा हमने कहा उनसे कैसे आप ये बताइए इंग्लैंड का भी मैंने दिया एक व्यक्ति ने उन्होंने ये कहा कि खाद्य चीजों में घी दूध मक्खन आटा आदि में कोई मिलावट नहीं मिलेगी आपको वो जी रहा नहीं जी रहा इंग्लैंड और ये तर्क देता है इसके बिना व्यवहार नहीं चलता मिलावट तो करनी ही पड़ेगी बिल्कुल पागलों की बात निर्बुद्धि लोग ऐसा मानते जितना जितना व्यक्ति आगे बढ़ता जा रहा है उसका विनाश होता जा रहा है आतंकवाद डाके चोरी शराब पता नहीं क्या क्या नाम ये आगे आगे बढ़ता चला गया आज जंगल में एक व्यक्ति जा रहा कोई मां बहन उनको जंगल में मिली बड़ी भयभीत है मुश्किल से भाग दो के बची है इधर उधर दुष्ट लोगों से और वो रास्ते में जाते जाते मिल गई कहेंगे भाई मैं उसकी बहन हूं फलाने जगह फलाना मुझे बचाओ उसके मन में एकदम विश्वास हट जाएगा ये पता नहीं क्या बम ले रही है या क्या ले रही होगी क्या होगा उसको बचाने के लिए तैयार नहीं होगा विश्वास समाप्त कर दिया रोगी बीमार कंगाल गरीब पूरी तरह से पिसता जाता है अच्छे लोग भी इसमें पिछले आप आज तक इस कसौटी पर नहीं पहुंचे कि सत्य से ही लौकिक सुख मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है यदि नहीं पहुंचेगा तो आपने कुछ नहीं किया अपने जीवन या तो यह सिद्ध करो झूठ बोलने से लौकिक सुख सिद्ध होता है मुक्ति मिलती है या ये सिद्ध करो सत्य से ही लौकिक सुख और मोक्ष सिद्ध होता है अब मुनि जी ने कि आपने किया क्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज बार बार दोहराते हैं मनुष्य जीवन का होना सत्य और सत्य को जानने के लिए है मनुष्य जीवन का होना सत्य को जानना जनाना है असत्य को छोड़ना छोड़ाना है कैसी पंक्तियां आपको बार बार मिलेगी बार बार मिलेगी क्या ऋषिदान की बात करते हो घर में तो आग लग रही है उल्टा ऋषिदान की बात करते हो ये प्रवचन और ये देश प्रभावहीन हो चुके हैं कारण वो लोगों की करनी कथनी आकाश पदार पर छू रही है उनकी महर्षि नाम का नाम लेने वाला व्यक्ति ये उपदेशक व्यक्ति ये संन्यास के रूप में ये वानप्रस्थ के रूप में ये ग्रेस के रूप में और ये समाज की योजना आता किसी की बात कोई नहीं मान सकता विश्वास खो बैठे यहां तक दिमाग बना लोगों का कि देखो ये योजना केवल मंच की है ये केवल पुस्तकों की है समाज व्यवहारिक जीवन नहीं है व्यवहार में नहीं आती लेकिन ये दिमाग बन गया पढ़े लिखों का यहां तक पहुंच गई ये बातें आदि समाजों में ये कहने की बातें प्रस्ताव की बातें आपकी भी यही स्थिति रहेगी यदि आपने इसका विरोधन नहीं किया और अंतिम परिणाम नहीं निकाला वेद और डिजिटल ग्रंथों के आधार पर आपने नहीं कचा और इसका प्रयोग नहीं किया तो आपको भी झूठ में ही गोते लगाने पड़ेंगे और ईश्वर की ओर से भयंकर दंड मिलेगा आपको मनुष्य जीवन भी नहीं मिल सकता इस हालत में पशु कीट पतंग में जीवन नहीं जाना पड़ेगा किसी भी दृष्टि से सोचिए आप अंतिम परिणाम ये नहीं निकाल सकते कि मनुष्य का कल्याण होता एक राजनीति का क्षेत्र राजनीति के क्षेत्र में बड़ी विचित्र बातें आ जाती हैं क्या वो क्या आती है कहीं कहीं ऐसी संकट की घड़ी आती है कि एक दूसरा व्यक्ति उसको हराता है इधर उधर के नियमों को भंग करके तो धार्मिक राजा ही कुछ नियमों का उल्लंघन करके सोमवार मारता है वहां पर क्या होगा उसका उत्तर यह है वो अन्यायकारी भी न्याय करता चला जा रहा है वही नियम नहीं है उसका अन्यायकारी राजा और न्यायकारी जो है उसने भी कुछ नियम भंग कर दिया अपनी ओर से और ऐसे क्षेत्र में उस काम को अच्छा माना जाता है क्यों वो दोनों की अपेक्षा धार्मिक राजा का कृत्य है वो अपेक्षा करते अच्छा है इसलिए उसको अच्छा माना जाता है वास्तव में वो भी कमजोरी अपेक्षा से उसको अच्छा माना जाता है सत्या प्रकाश में पढ़ा कभी श्री शंकराचार्य जी ने आस्तिक मत को हरा करके और ब्रह्म सत्य जगत में इच्छा की स्थापना की और उसमें ऋषि का भाव सुनिए ऋषि कहते हैं यदि उनको हराने के लिए यदि शंकराचार्य ने अच्छा काम किया नहीं ये मत अपनाया है तो कुछ अच्छा वास्तव में अच्छा नहीं है ये बात सबसे लागू कर लेना क्या समझे आप बोलो ये सिद्धांत काम आएगा ये समझे का काम आएगा ये वही दो की तुलना में नास्तिक लोग आगे बढ़ रहे हैं सत्यानाश करते चले आ रहे हैं और शंकराचार्य की अपनी कमजोरी के कारण उसने ब्रह्म सत्य जगत क्या को बना करके हराया तो उसकी अपेक्षा नास्तिक पक्ष के जीतने की अपेक्षा ये अच्छा है वास्तव में अच्छा और देवी जी की कथा सुनाया करते हैं लोग बस मैंने भी उनके उपदेश भी सुने पर ये उपदेश तो दूसरे की बात में मैंने सुना तो बड़ा एक ऐसा दृष्टांत दिया करते थे कि भाइयों ये कुछ अच्छा है कार की ये है बड़ा ऐसी घटना भी हो सकती है वो कहते थे भाइयों एक व्यक्ति ने चट्टी कर दी दूसरे ने भी कर दी और पेशाब का घड़िया वो हंडिया भरी थी एक ने पेशाब से आदत हो रही है एक ने धोने ही नहीं वो पेशाब से हाथ धोने वाला न धोने वाले से कुछ अच्छा <laughs> तो ये ये केवल इतनी बात है उसके वो कुछ अच्छा है वास्तव अच्छा नहीं किसको बंदर में वो तो हो गया रिपोर्ट <laughs> वो तो हो गया तो देखो ये कुछ अच्छा है आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा व्यवहार को छोड़ के योग की ओर जाति देश काल समय अनुवाचन्ना सार्वभौमा भाव ऋषि ने उद्घोष किया जो व्यक्ति ये नियम का पालन करना चाहता है योगी बनना चाहता है जाति देश काल समय छिन्ना ये जाति देश काल चारों से काटे नहीं जा सकते वही व्यक्ति दरिद्रवान बनेगा वही व्यक्ति समाधि पर पहुंचेगा दूसरा व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता जिस काम के करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती वो किसी काम का वो कर्म नहीं वो विनाशकारी है अंतिम परिणाम है ये बड़ा विचित्र पक्ष है ये दोनों संघर्ष पहले समय भी चलते थे आज भी एक का नाम है आदर्शवाद और एक का नाम है अवसरवाद अवसरवादी लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं आदर्शवाद को कुचल के रखें और हम बड़े बड़े देख रहे हैं संकल्प लेके चलो व्रत लेके चलो और सत्य को खा चुके देखो सत्य का प्रयोग करना भी आना चाहिए कई बार व्यक्ति सत्य का प्रयोग तो करता है उसमें बड़ी भूल कर डालता है और कहता मुझे बड़ा दुख होता है वो दुख का कारण सत्य नहीं होता उसका प्रयोग जो है उसका इतना खराब है बस वो प्रयोग उसको नहीं करना आता और कई बार व्यक्ति सत्य व्रत लेके चलता है और वो भंग हो जाता है तो क्या करोगे फिर आरूढ़ हो जाओ फिर संकल्प लो और फिर सत्य बोलो बात ध्यान से सुनने की है सत्य बोल के ही देखा जाए छह मास एक वर्ष तो आपके सामने उत्तम परिणाम आ जाएगा उसके पश्चात आपकी श्रद्धा विश्वास इतना हो जाएगा कि सत्य से बड़े लाभ हैं झूठ से हानि है आप आगे बढ़ जाएंगे तो कम से कम आप इतना प्रयोग तो कर सकते हो छह मास तक सत्य बोल के देखो कोई एक वर्ष तक बोल के देखो बताओ छह मास तक कौन कौन बोलेंगे हाँ कम से कम छह वर्ष छह मास तक तो बोल के देखो ठीक है और एक वर्ष तक कौन कौन बोलेंगे ये एक वर्ष वाले अच्छा जीवन पर्यंत कौन बोलेंगे एक दो तीन ये, ये बहुत अच्छी बात है ध्यान दो सत्य बोलने वाले को तैयारी करनी है ज्ञान को तो हथेली पर रख लो पर फिर कहो मैं सत्य बोलू इससे कम सबका काम नहीं है अपने ज्ञान को हथेली पर रखो और कहो मैं सत्य बोलू ये पूरा जब हो बस प्रयोग करके देखने से पता चलता है कितना आनंद आता है कितना विश्वास है व्यक्ति का अपने ऊपर वो डरता नहीं किसी से और झूठ बोलने वाला व्यक्ति सदा डरता एक व्यक्ति एक झूठ बोलता है उनको दबाने के लिए पांच चार सही वो झूठ बोलते एक व्यक्ति ने सुनाया एक व्यक्ति मुझसे कार मांगने आया और मैंने देरी थी नहीं वो कहने लगा मेरा चालक बीमार है और चालक तो बीमार नहीं था ड्राइवर तो बीमार नहीं था वो कहेगा ठीक है भाई मेरे पास तो चालक नहीं बीमार है तो फिर क्या उसने सोचा कार वाले ने कि भाई कह तो किया मैंने बीमार है और बीमार तो नहीं है उन्होंने कहा कि मैं सर चालक के पास में गया और मैं कहा देखो भाई वो फलाना व्यक्ति आए तो तू ये कहना मैं बीमार हूं उसने अपने मुंह से ये बात बताई कि मैंने बहुत झूठ बोलने पड़े एक झूठ के पीछे एक झूठ के पीछे इतना झूठ बोलना पड़ता है और आज झूठ बोलो छह महीने तक उसको दबाने की कोशिश करनी पड़ेगी ये मैंने छोटा काल बताया आपको जो बनाने जाओ कभी रणसिंह जी का उदाहरण नाम लेके श्याम सुंदर आर्य ने कल्पना करते श्याम सुंदर आर्य के मुंह से ये निकल गया या ठेका कहानी में कह दिया ये रण सिंह जी ने यहां से मेरे इतने रुपए चुरा लिए और निकल तो गया अब क्या अब दबाओ उसको फिर आए शिक्षक जी ने फिर रण सिंह जी आज आ गया कि भाई ये तो इसके पैसे से वो पास नहीं उभर जाए कभी वो दूसरा बता दे वे तेरे रण सिंह जी ने चोरी की है आप छह महीने की तो मैंने थोड़ी अवधि बताई <laughs> साठ वर्ष में जी वो व्यक्ति झूठ को दबाने में नहीं रहेगा एक बार का झूठ बोला हुआ व्यक्ति को वो होता ना घुड़ खा जाता लकड़ी को ऐसे खा जाता है तो लकड़ी का कुछ नहीं बनता ये व्यक्ति का खाया हुआ है तो झूठ बोलता है उपनिषद ने तो ये बात कही पिपलाज के पास में छह विद्वान गए और एक विद्वान ने चर्चा यही छेड़ी महाराज जी मुझे ये बताओ ये सोलह कला वाला पुरुष कौन है सोलह कला वाला कौन सा पुरुष है क्यों पूछते हो कहने एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था और मैं जानता नहीं था मैंने कहा मैं सोलह कला वाले पुरुष को नहीं जानता और यदि मैं जानता होता था तो अवश्य ही बताता क्योंकि मैंने वही सत्य बोला और आगे पाठ है लगभग स मूलम ऐसा की जो अमृतम अभिवदती समूल नष्ट हो जाता है जो व्यक्ति अमृत बोलता है इसलिए मैंने कहा मैं नहीं जानता षोडश कला वाले पुरुष को ये ऋषियों की मान्यता है यह वाक्य लेके देखे सत्य है ये सही आत्मा परमात्मा सत्य से ही प्राप्त होता है सत्या प्रकाश लिखा गया तो सत्य के लिए ही लिखा गया बोलो नहीं लिखा गया, क्या आदि से लेकर का नाम सत्यार्थ प्रकाश और आदि से लेकर के वही बात रख दी गई तो विविध प्रकार से सुन लो तर्क वितर्क से सुनो शास्त्रार्थ से सुनो व्यवहार से देखो प्रयोग करके देखो परिणाम निश्चित रूप से निकलेगा लौकी के सुख और मुख का सुख सत्य से ही मिलता है इसे विपरीत हो ही नहीं सकता वेद दर्शन विष्णु के आदर्श जो थे आज अवसरवाद ने उनको समाप्त कर दिया है व्यवहारिक नहीं रहे जैसे लिखी हुई बातें सारी बेकार होती चली गई सारा संविधान बदल गया है आश्रमों की स्थिति बदल गई है ये स्थिति भी ऐसे ही चलती जाए ऐसे रहे तो ये वेदों की परंपरा ये आदर्श जो सिद्धांत ये कहीं भी नहीं रहेंगे और सारे के सारे बिल्कुल जैसे दुनिया की ओर बातें हैं वो धीरे धीरे सारा का सारा निमट जाएगा इसलिए हमको संकल्प लेकर चलना चाहिए और एक पर मैंने जोर दिया है सत्य के ऊपर और याद रखिए एक व्रत का पालन करने के पश्चात व्यक्ति और व्रतों का पालन करने में समर्थ हो जाता है और जो एक ही को नहीं करता सत्य को छोड़ देने के पीछे मान के चलिए वो सारी के सारी उल्टी चीजों को अपनाता है आप विचार कीजिए और संकल्प लेके चलिए कि हम इन इन व्रतों का पालन करेंगे और उनके भंग हो जाने पर प्राश्चित करो फिर चलो प्राश्चित करो फिर चलो याद रखिए सूक्ष्म सत्य पर पहुंचने के लिए कहां पर पहुंचना पड़ेगा ज्ञान में सत्य मन में सत्य वाणी में सत्य कर्म में सत्य लेखनी में सत्य लेन देन में सत्य ये इतना व्यापक है शरीर से इसको छोड़ देना सरल है फिर वाणी से कठिन फिर आगे बढ़ जाओ मन से छोड़ना बहुत कठिन पर असंभव कुछ भी नहीं मेरे परीक्षण बहुत लंबे चले पैंतालीस वर्ष से ऊपर हो गया बहुत परीक्षण हुए आज भी मैं परीक्षणों में लगा हुआ बिल्कुल और पूरा प्रयास करता हूं कभी ऐसा न हो जाए और मन में भी वही हो ज्ञान में भी वही हो कर्म में भी वही हो लेखनी में भी वही और इतना ही नहीं सोचता कि मेरे लिए ये ब्रह्मचारी जितने हैं सबको ऐसा ही बना आप बुरा मान जाओ भले ही आपको भी मैं ऐसा ही बनाना चाहता हूं कड़वा लगता होगा आपको धमका के बोला जाता है ये सारा का सारा उपकार के लिए बोला जाता है आपको बुरा लगता है अच्छा हाँ तो फिर बहुत अच्छा सुनाऊंगा मैं आपके और आगे जो जो भाई हमको भय ये रहता कि ये नाराज नहीं हो जाए जाए दुखी नहीं हो जाए फिर फिर आएंगे ही नहीं और सुनाएंगे किसको खाली मैदान आप बताते रहे ना जो दुखी होगा उसकी बात नहीं कहेंगे बीच में उसको अकेले को बुला के कहेंगे उसका हाँ, उसका यही उपाय है जो दुखी हो जाए सबके बीच में उसको अकेले बुला के कहेंगे और जो कहेगा मेरी झूठ कोई भी बुराई सबके बीच में उसकी सबके बीच में अगर जो सबके बीच में चाहते हो बताओ सबके बीच में चाहते भाई कुछ लोगों ने उठाया भाई ये तो अच्छा अगर नहीं उठाया भाई क्यों नहीं उठाते उनको डर लगता है डर लगा सत्य के ग्रहण करने सत्य के सुनने मुद्दे करो बंधुओं भले ही मैंने कहीं कहीं रोचक बना दिया पर यह गंभीर विषय है आदर्श इसके बिना जीवन बेकार है अन्याय को उखाड़ना हो अधर्म को उखाड़ना हो अज्ञान को उखाड़ना हो राजनीति गलत को उखाड़ के फेंकना हो और अपना चरित्र ऊंचा उठा के ईश्वर तक पहुंचना हो तो ये अनिवार्य रहेगा इसमें विकल्प नहीं कोई माने नहीं माने जाने ये परिणाम यही इसलिए हमारा जीवन पता नहीं कल रहेंगे नहीं रहेंगे भूकंप तो आया था जैसे भूकंप कहाँ कहाँ आया था आप जानते हो और आज रात को आ गया तो <laughs> ये क्यों नहीं सोचते और किसी को नींद आती आ गया तो नींद ही ना आए उसको बेचारे को <laughs> वही का कद पता नहीं वेद ने संकेत दिया ये मेरी बात नहीं है अश्व से वो निषदना पर वो बदित कृत है वो भाजे इला तथा यथ सनवथ और अश्व थे वो निषदन हे व्यक्ति तू जिस शरीर में रहता अश्व थे कल ये पता नहीं रहेगा या नहीं रहेगा तू झा रह रहा है इसलिए भगवान का भजन कर ये वेद का संकेत है मेरा नहीं हमारे जीवन में ये चीजें जब आएंगी संसद बना रहेगा स्वार्थ जहां आएगा अज्ञान जहां आएगा त्याग की भावना जहां नहीं होगी किसको मैंने सोचा मुझे ही बंद कर रहे हैं मुश्किल से एक चिंगारी दिखाई या भी मुझे मन आप रोज सुनते रहो ना तो फौजियों की तरह तैयार हो सकते हैं पर रोज कौन सुने और कौन सुनाए ये क्या जीवन है बात कहो सेवा करो त्याग करो और वाणी से बोलो कैसा प्रभावित नहीं होगा व्यक्ति होगा तो विराम तो देना ही पड़ेगा ये तो कई दिनों तक सुनो और मैंने विशेष तुलनात्मक बातें नहीं कही बड़े पक्ष उभर के आते हैं और हम उस सबका उत्तर देते हैं दोनों पक्षों से बड़े प्रबल पक्ष हैं दोनों अवसरवाद और आशीर्वाद आदर्शवाद अवसरवाद को धराशायी जब तक नहीं किया जाएगा दिखाया नहीं जाएगा ले प्रवचन आचरण के तब तक उसको हम ढीला नहीं कर सकते अब तो हमारे सिर पर चढ़ा हुआ है अवसरवाद एक चौकीदार ने लेके राष्ट्रपति देखो अवसरवाद साधारण व्यक्ति ने लेके सन्यासी तक अवसरवाद क्या होगा दिमाग खराब हो गया है ऋषियों के वेदों की बात खराब है ब्रह्मचारी रखो आए हो इधर उधर से यहां वाले भी सुन लो आप भी कभी अवसरबाज हो बने जाओ हाँ पढ़ते हैं लिखते हैं अवसरबाजी में जाके खड़े हो जाते पढ़े लिखने वाले अब मैं इसको विराम देता हूं और आप तैयारी करो हम तो ऐसी बड़ी सेना चाहते हैं सारे के सारे मिलकर के सत्य की पुष्टि असत्य का खंडन इतना भयंकर करें रोके ये क्या हुआ देखिए <laughs> ये ऋषियों का जमाना आ गया है जी और वो पहले जब विवेक जी गाया करते थे ना ये एक टुकड़ा होता था जय मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला लाखों में वार करता एक सूर्य अकेला यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या हाथी ये सोचो हम अकेले वैसे हैं भी नहीं मनुष्यों की दृष्टि अकेले हो सकते भगवान साथ जुड़ने से प्यारे हो जाते हैं नहीं समझे और भगवान को साथ जोड़ दो दुनिया के साथ जोड़े ना दो कम से कम इतना तो कर दोगे लाखों को जोड़ने में तो महीने बरस लग जाए और एक को जोड़ने में थोड़ा सा समय लगे एक को जोड़ दो बस वो आप होते ना एक के साथ एक बस भगवान साथ जुट जाए ये सारे नाचेर हो ये गद्दी वाले हम कुछ नहीं थे उखाड़ के फेंके थे अब कम से कम बीस तीस पचास लोग तो होने चाहिए है जी तो देखो हम आशा रखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की ये नए ब्रह्मचारी आ रहे हैं ये पुराने हैं और अपने पास में नए साधक आ रहे हैं कुछ माताएं नई हैं कुछ बहनें भी ब्रह्मचारिणी भी हैं तो इतनी बात होने पर तो हमको निराशावादी तो नहीं होने दोगे ना आप हाँ हाँ तो तैयार है और हमको तो आनंद उसमें ही आता है जब बात बातों वो तोड़ फोड़ के व्यक्ति फेंकता दिखता बैठा बैठा व्यक्ति किसी काम करने नहीं दिखता वो उल्टी चीजों को फेंकता जाता है आगे बढ़ता जाता है अपने मित्र बनाता है संगठन करता है उल्टी चीजों को उखाड़ता जाता है बस ये आनंद का जीवन है और ये व्यक्ति स्वयं है आज की कुछ बैठी है और वैसे कहता रो रो कहता भाई मरोगे क्या आज पता नहीं तो बहुत कर पाएगा आपने सुनी है पंचतंत्र की कथा वो क्या हुआ एक बार ऐसा एक गिद्दड़ था गिद्दड़ के काम दे क्या बोलते हैं दूसरी भाषा यार बोलते हैं वो जो छोटा सा बच्चा था ना तो शेरनी जो होती है उसने पाल लिया छोटा सा बेचारा ये कथा है वजह नहीं बनाई पंचतंत्र सरकार की तो उसने पाल लिया पुल लिया वो बड़ा सा हो गया थोड़ा सा और शेरनी के बच्चे भी थे और वो गीदड़ भी काफी छोटा सा था खेल लेने के बाद जाते आते आते आते करते और एक बार आखी आए और दौड़ती आई और वह शेर का जो बच्चा था वो करने के लिए भागा वह तू पागे नहीं इतना बड़ा ये जानवर है मार डालेगा कुछ डालेगा तो कहा जा मां को शिकार करता हूं तू तेरे कहीं का तुमको देर का बच्चा ये थे वो भाई थे ना दोनों मिलने और वो आपकी माँ के नाम नागी लिखा क्या माँ ये मरवाएगा इतना बड़ा लंबा चौड़ा हाँ, काला काला और वो वहां आता था ये मारने लगा उसको वो की कथा तो लंबी है ये भाई क्या करता है और तो शासन की भी जरूरत और शासन की भी जरूरत हमारे गुजरात में जेलों का बड़ा भारी प्रचार है शायद आपने देखा है कि मुझे मालूम नहीं मुझे